हमारा संस्थान है जी खेती विरासत मिशन तो हम एक मिनट की एक सूचना देना चाहते हैं आप सभी साथियों को जितनी भी आज हमने बातचीत की तो उसमें एक लास्ट में बात आती है कि हमें मार्केटिंग पे भी उतना फोकस करना चाहिए जो जितने जैविक किसान हैं बिक्री होगी तो तभी बात आगे बढ़ेगी तो उसी में से बात आई थी हमारा कुछ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए तो जो खेती विरासत मिशन है ये national centre of organic farming एन जो गाज़ियाबाद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है उसका रीजनल काउंसिल है खेती विरासत मिशन पंजाब के लिए हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ यहाँ तीनों जगह से जितने भी जैविक किसान हैं अपनी प्रोड्यूस की अपने खेत की रजिस्ट्रेशन के लिए पीजीएस के अंडर सर्टिफिकेशन के लिए खेती विरासत मिशन से संपर्क कर सकते हैं बहुत कम लागत पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है आप अपना ग्रुप बना के मार्केटिंग कर सकते हैं और दूसरा बात जो जैसे जितना हम अपनी प्रोड्यूस को आगे समूह बनाकर बिक्री कर रहे हैं ऐसा ही हमारी एक किसानों की टीम है जो जैविक बीज पैदा करने का काम कर रही है हमारे पास सर्दी ऋतु की सब्जियां गर्मी ऋतु की सब्जियां इसके साथ साथ गेहूं की जितनी वैरायटीज़ है चना सरसों उसके देशी बीज जो जैविक तरीके से पैदा किए गए हैं वो आपको सभी को उपलब्ध हो सकते हैं इसका आप खेती विरासत मिशन से संपर्क करने के लिए नंबर नोट कर सकते हैं और जो पीजीएस के लिए और बीज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारा संस्थान का नंबर है सात जीरो आठ सात एक सात जीरो आठ सात एक जीरो सात एक छः दो जीरो सात एक छः दो लास्ट में छः दो है और दूसरा नंबर लास्ट में छः पाँच है दोनों नंबर पे आप सात जीरो आठ सात एक जीरो सात एक छः दो या छः पाँच लास्ट में तो बीज के लिए और पीजीएस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सभी का आपका धन्यवाद नमस्कार कार्यक्रम के आज के दिन के कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे बीच में कपिल शाह हैं कपिल शाह गुजरात से हैं कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है कृषि विश्वविद्यालय में कुछ समय पढ़ाया और उसके बाद तय किया कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है और सारा जीवन सार, सार्वजनिक सामाजिक कामों में बिताना है जैविक खेती और इससे जुड़े हुए मुद्दे पे जो राष्ट्रीय स्तर पे काम हो रहा है उन दो संगठनों से जुड़े हुए हैं दो के तो कम से कम मैं कह सकता हूँ जुड़े हुए हैं एक है organic farmers association of India Bharat के सजीव कृषकों जैविक किसानों का संगठन उसके पहले सचिव रहे हुए हैं और एक आशा है alliance for sustainable and holistic agriculture मतलब समग्र और सतत कृषि के लिए काम करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है कपिल शाह उसके साथ जुड़े हुए हैं और हरियाणा में हमने जब भी इनके सामने खेती की कोई समस्या रखी है इन्होंने हमें हल करने में सहायता की है ये एक बारी या दो बारी कम से कम दो बारी हमारे अनुरोध पर गुजरात के किसानों को लेकर यहाँ आए हैं इनके खेतों पे गए हैं और उसके बाद वो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को जब हमने लागू किया है तो हमारे सुधार भी हुआ है पैदावार में सुधार हुआ है तो कपिल शाह से जी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन के तौर पे अपना जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन हो और उन्हें बंद करने की जल्दी होगी हमें जल्दी ख़त्म नहीं करना है तो कपिल भाई शाह